यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह कहेगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को पूरी तरह समझे बगैर ही झुटला दिया था या क्या करते रहे थे